उसने हमारे पापों और दुखों को उठाया उसके घावों से मैं चंगा हुआ क्रूस पर उसने मेरे लिए सब कुछ लिया आज उसका जीवन मुझ में बहता है मैं यीशु के नाम में चंगा हुआ हूं मैं बहाए गए लहू से चंगा हुआ क्रूस ने मृत्यु से अधिक जोर से बोला मैं प्रभु के प्रेम से चंगा हुआ हूं उसने मेरे पापों को काट पर उठाया ताकि मैं विश्वास से परमेश्वर के लिए जीऊं उसके घावों से मुझे जीवन मिला आज चंगाई मुझ में बढ़ रही है उसने अपना वचन भेजा और मुझे पूरी तरह से चंगा किया